शांति स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलो भवा आत्मदेव की स्त्री का नाम था धुंधली और उसमें ये विशेषता थी कि अपनी बात पर अट जाने वाली थी जब कुछ हो जाए अपनी बात को सच्ची करके लोग वार्ता रखा संसार की संसारी बातों में उसकी बड़ी रुचि थी उसकी वो ऐसा है वो ऐसा है किसी की निंदा किसी की स्तुति इन बातों में उसकी बड़ी रुचि थी और बोलने वाली बहुत थी सूरा के ग्रह करते घर के काम धंधे करने में बड़ी कुशल थी और कृपण थी और कलह प्रिया झगड़ालू थी ऐसे दोनों स्त्री और पुरुष उनको रहते रहते बहुत तन हो गए और अर्थ और काम उनके पूर्ण थे और उन्होंने तो उनके कोई संतति नहीं थी तो उन्होंने अनेक साधन किए संतान उत्पत्ति के लिए पुत्र उत्पत्ति के लिए गौ आदि गौ का दान किया पृथ्वी का दान किया सोने का दान किया धनार्धम धर्म धर्म मात्रेण काभ्याम नीतम आधा धन उन्होंने धर्म में लगा दिया पर न उनका कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई बड़ी चिंता थी इस ब्राह्मण को एक दिन दुखी होकर के वो जंगल में निकल गया भूखा प्यासा जंगल में जाकर के एक तालाब था वहां जाकर के बैठ गए प्रजा दुख ही न कर सका और कोई दुख नहीं था उसको घर में और सब प्रकार का सुख था केवल उसके पुत्र नहीं था इसीलिए दुखी था प्रजा के ने कर्षिता तालाब के पास बैठा हुआ था एक महात्मा वहां आए उन्होंने वहां वो तालाब में से जल पिया वो वृक्ष के नीचे बैठ गए तब उसने देखा कोई महात्मा आकर के बैठे हैं तो ब्राह्मण देवता जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके लंबी लंबी सांस लेने लगा निश्वसन संस्थित हो रहा महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्या बात है कथम रुदिश विप्रत्वम रोने लगा महात्मा के सामने महात्मा बोले अरे क्या कष्ट है ब्राह्मण देवता बताओ अपने दुख का कारण तो बताओ ब्राह्मण बोला महाराज हम क्या कहें आप तो सब जानते हैं हमारा कोई ऐसा पूरा पाप पूर्व जन्म का पाप है कि हमारे मदिया पूर्वजा स्वयं कबोष्ण मुकुट थे हमारे जो पूर्वज हैं पितर हैं वो जब मैं जल देता हूं तो थोड़ा गर्म करके पीते हैं इसका क्या तात्पर्य मनो मैं जब जल देता हूं तो हमारे पूर्वजों को ये चिंता है कि अब तो ये जल दे रहा है अब आगे इसमें कोई संतान नहीं है तो फिर हमको जल कौन देगा तो हमारे पितरों को भी जो है चिंता है तो अपनी चिंता जनित सांसों से थोड़ा उस जल को गर्म करके पीते हैं उनको चिंता हो जाती है जल जल पीते हैं तो जल गर्म हो जाता है उसका तात्पर्य हुआ कि मैं चिंतित नहीं हूं हमारे जो पूर्वज पितर हैं उनको भी दुख है इस बात मत दत्तम नहीं विनती पीठ क्या देवा हो जाता है महाराज में पुत्र न होने से दुखी इसलिए मैं तो प्राण त्याग करने के लिए आया हूं दिग्जीवितम प्रजानंदन प्रजा नहीं अरे ऐसा क्या जिसके बच्चा नहीं उसका क्या दिया जिस घर में बालक नहीं खेलता उसका क्या दिया दिग्धनम चाण करते दिक्कुलम सुंदर मैं महाराज जिस गऊ को लाता हूं वो भी बंध्या हो जाती है बच्चा नहीं देता वृक्ष में लगाता हूं फल नहीं देता है कहीं बाहर से मैं फल ले आता हूं तो मेरे लिए कितना भाग्यहीन हूं हाँ? ऐसा कह करके और जोर जोर से रोने लगा महात्मा ने कह रे तू आओ वहां सामने आ हमारे बैठ कोई सन्यासी जो थे योगी थे उन्होंने उसे सामने दिखाया और कट से जी उन्होंने उस प्रसाद उसकी रेखाएं देखी तद भालाक्षर माणांच वासयामास योगवान योग योगी थे महात्मा उन्होंने जो उसकी ललाट के जो अक्षर थे अक्षरमाला थी जो जो चिन्ह थे वो सब उन्होंने देखी भगवान की रचना अचिंत रचना रूप से हम लोगों के शरीर की रचना कैसी विलक्षण है हाथों में ऐसी रेखाएं बना दी है कि जिनको देख करके उसकी बता देगा जहां हाथ देखने वाला हो ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा पैरों में ऐसी रेखाएं बना दी जिनको देख करके सारे जीवन का हाल बता दे मस्तक में ऐसी रेखा बना दी कैसे कैसे चिन्ह शरीर में बना दिए हैं जानकार लोग उनको देख करके ही भगवान की कैसी महिमा कैसे प्रभु की विलक्षण रचना है शरीर में ऐसी ऐसी रेखाएं हैं जिससे वो हमारे जीवन का हाल लगा तो उन्होंने उनकी तब भालाक्षरमाला से वाक्या मासू उस ब्राह्मण के मस्तक के सब अक्षरों को बांट लिया और बोले वो अरे मुंसा ज्ञानम प्रजा को अरे ये तो एक अज्ञान है खुदा है विद्या है हमारे बालक नहीं हमारे बालक अरे इसको छोड़ो कर्मणो बलिष्ठा गति अरे कर्म की बड़ी विलक्षण गति होती है और तुम विवेक का आश्रय दो और संसार की वासना को छोड़ दो अरे लड़का और लड़की हो ये तो ये संसार की बातें प्रपंच है देख मैंने तेरे प्रारब्ध को देख लिया सप्त जन्मावधि ये जन्म नहीं तेरे ऐसे संकेत मिलते हैं तेरे शरीर में तेरे मस्तक में कि आगे सात जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होगा आपकी तो क्या है और संतति पुत्र के पुत्रों से दस हजार पुत्र सगर के थे उसको क्या सुख मिला रेम साप्त कुटुम्बासाम संन्यासी सर्वता देखो देख तो अगर संसार में सुख होता तो हमें महात्मा क्यों होता देख छोड़ झगड़े को हम्म? अब तू घर से निकल ही आया है और हमसे ले ले समय मंत्र ले ले संन्यास ले ले में हमारा साथ है यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं दुख नहीं संन्यासे सर्वथा सुखम यहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है रेमिंशाद कुटुंबासान संन्यासी सर्वथा और सन्यासी होकर के भी दुखी रहता है वो पाएगा सन्यासी तो कहते हैं सन्यासी सर्वथा सुखम मर रहा है तो सुख है बीमार है तो सुख है तो मौजी मौज उसकी हाँ दुख तो दुख से तो संन्यास ले लिया उसने संन्यास ही सर्वथा सुखम ब्राह्मण बोले महाराज तुम्हारे इस विवेक का मैं क्या करूंगा ये तो बड़ी पास रखो पुत्रम देह बला मैं तो जो चाहता हूं मुझे तो पुत्र दो अगर मेरे भाग्य में होता तो हो ही जाता मैं तुमसे क्या मांगता इसलिए अपने तप के बल से अपने अपनी तपस्या के अपने आशीर्वाद से हमको पुत्र दो नहीं तो फिर मेरा मैं अपने आप प्राण छोड़ता हूं आपको सामने ब्राह्मण हत्या को स्वीकार करता पुत्राद सुखहीनो ही संन्यास शुष्क ये नहीं ये संन्यास में क्या अनुमान है इन्हें पुत्र पौत्र आदि का कोई सुख नहीं गृहस्था सरसो लोग पुत्र पौत्र सब लोग गृहस्थ तो सरस है जो पुत्र हैं पौत्र हैं ऐसा ब्राह्मण का आग्रह जब देखा महात्मा ने महात्मा बड़े तपस्वी थे योगी थे तब उनके मृत्यु चित्र चित्रकेतु भी बड़ा दुखी हुआ विधाता के लेखों को मिटाने से विधाता की लेख को मिटाने का आग्रह करने से चित्रकेतु भी दुख, दुखी हुआ लेख तू नहीं मानता तू भी तो इसलिए उन्होंने एक फल लेकर के उसको दे दिया कि जा देख इस फल को अपनी स्त्री को दे दे और वो सत्य शौच दया आदि का पालन करे एक समय भोजन करे एक वर्ष तक नियम का पालन करेगी तो सुंदर उसके बच्चा होगा पुत्र होगा ऐसा कहकर के योगी वहां से चले गए और उसने वो फल ला करके और अपनी स्त्री को दे दिया और वहां से एक कहीं कर्मकांड का उसको निमंत्रण आया था और कर्मकांड कराने चला गया और वो जो स्त्री थी उसकी अपने सखी के पास अपनी चर्चा करने लगी कि हमारे पति किसी सिद्ध महात्मा का फल लाए हैं और कहा कि इसको खा ले वो तेरे बालक हो जाएगा तेरे पुत्र होगा तो कहते तो कहने लगी फल भक्षिण गर्भ अस्या सिद्ध महात्मा का दिया हुआ फल है तुम्हें फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ हो जाएगा तो फिर पेट बढ़ने लगेगा तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा जब खाना पीना कम हो जाएगा तो फिर शक्ति कम हो जाएगी तो घर का मैं काम धंधा कैसे कर सकूंगी और अकस्मात यहां चोरों चोराधकों का आक्रमण हो गया तो मैं गर्भिणी कैसे भाग और तो सब लोग भाग जाएंगे अगर इस गांव में आग लग गई चोरों का आक्रमण हो गया तुमने कैसे भाग है अलायक गर्भिणी कथम और उसने भी कथा कोई सुन रखी थी और कहते हैं वो सुखदेव जी के समान मेरे गर्भ में ही रह गया बालक तो सुखदेव जी बारह वर्ष तक माता के गर्भ में ही रह गए फिर प्रार्थना करने पर भी बाहर आए तो कहते सुखबन निवसित गर्भ सुखदेव जी के समान मेरा बालक भी मैं निकला वो गर्भ से वहीं रहने लगा तो मैं उसे कैसे बाहर करूंगा और तिलक से और उत्पन्न होने के समय टेढ़ा हो गया तो, तो तब तो मैं मरी जाऊंगा और बच्चा पैदा करने के समय कितना दुख होता है मैं कैसे सहन करूंगी और मैं जब दुर्बल हो जाऊंगी तो मेरी ननद मेरा सम्मान मता ले जाएगी यहां संहरित तदा और ये सत्य संसाधित का नियम तो बहुत कठिन है एक वर्ष तक सत्य का पालन करना शुद्ध रहना एक समय भोजन करना इन नियमों का पालन करना बड़ा कठिन है बच्चे का लालन पालन करना कितना कठिन होता है इसलिए वो अपना सिद्धांत बताती है कि बंध्या व विधवा नारी सुखी चेत में मती जो स्त्री बंध्याय विधवाए वो स्थिर ऐसा पुत्र योग से उसने फल को खाया नहीं आप मुझे लौट करके आए तो कहा आपने फल खाई लिया तो वो तो उसी समय ले लिया पत्यापृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम से और उसको ये चिंता हुई कि अब ये अब क्या होगा हमने झूठ तो बोल दिया तो खाई लिया एक दिन उसकी बहन उसके घर में आई उसके बच्चा उसके गर्भवती थी तब उसकी बहन ने पूछा अरे तू दुबली क्यों होती जाती तू चिंतित क्यों रहती तो वो अपने अपनी बहन को सारी बात बताई अरे मैंने झूठे ही कह दिया मैंने फल खाया फल फल तो रखा है तो अब मैं क्या करूंगी पीछे और उसकी बहन ने कही मेरे तो और बालक हैं अब ये बच्चा जो होगा मैं तेरे को छिप करके दे दू मिला करके तम में प्रसूचता जब बच्चा पैदा होगा तो छिप करके हम तेरे को लाकर दे तब तक तू गर्भवती के समान छिप करके रहे अपने घर में आनंद से और तू हमारे पति के लिए कुछ धन संपत्ति दे दे तो फिर वो बच्चा देने में जो है कुल हाँ, हाँ, मान करेगा और तू तो हम अपना ऐसे प्रचार कर देंगे कि हमारा बच्चा हो करके और छह महीने का था वो मर गया और यहां आकर के मैं तेरे बच्चे का पालन पोषण करती रहा और ये जो फल है इस फल को तू दे दे अपनी गौ को दे दे परीक्षा के लिए बस उसकी वैद ने जो बात कही थी तो स्त्री के स्वभाव से उसने वही काम किया और अब वो फल तो उसने दे दिया गौ को और उसकी बहन के जब बच्चा हुआ तो उसकी बहन ने ला करके उस बच्चे को अपनी बहन को दे काले न सानारी प्रसूता बालकम करा आनी ने वो बालम रहस्य धुंधली एकांत में ला करके और उस, उस बच्चे को उसको दे दिया धुंधली तयाच रसदम भरते उसने तत्काल अपने आत्मने पति के पास सूचना भेज दी कि तो मेरे जो है बड़े सुखपूर्वक जो है बच्चा उत्पन्न हो गया तयाच रसदम सर भरते प्रसूता सुखम और कहा महात्मा की कृपा से बच्चा होने में कोई कष्ट नहीं हुआ बड़े आनंद पूर्वक बालक अतः लोगों को वहां के बड़ा आनंद हुआ सब लोगों को कर वही देखो वृद्धावस्था में आत्मदेव के पुत्र हुआ पुत्र हुआ ब्राह्मण ने बहुत दान दिया ब्राह्मण ने ददव दान दुजातिभ्यो जात कर्म विधाय थे जात कर्म संस्कार किया और ब्राह्मण को दान दिया बड़ा उत्सव बनाया और उसने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है मेरी जमीन के बच्चा हुआ है वो तो मर गया मेरी बहन को लाकर के यहां रख दो तो इस बच्चे का पालन पोषण करेगा उसने वही किया तो उसकी बहन को बुला करके अपने घर में रख दिया तो बच्चे का पालन पोषण करने लगे और जो है दिमाग से निर्गत ये चाहता दो महीने के बाद में उस गऊ के जो बच्चा पैदा हुआ सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रथम चमचम चमकता हुआ स्वर्ण के समान जिसका तेज और सभी अंग जिसके सुंदर थे ऐसा केवल कान उसके गौ के से थे और सारा अंग उसका मनुष्य जना सर्वे दीक्षार्थम समागता और जो है गौ के जब मनुष्य की आकृति का बालक हुआ आप समझो तो फिर सारा गांव इकट्ठा हो गया अरे गौते मनुष्य की आकृति का भाग और ये देखो ब्राह्मण देवता का भाग कैसा उधर हुआ तो इसके भी बच्चा होगा और देखो गौ के भी मनुष्य की आकृति का भाग होगा भाग्योदय न धुना भाग्योदय धुना जाता आत्मदेव से का धैनवा वाला वस्तु देव रूप नीचे कौतुक कैसा आश्चर्य इस रहस्य का पता किसी को नहीं चला के जैसे काम थे इसलिए उस ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण उसका नाम गोकर्ण रख दिया और उसका नाम क्या रखा आत्मदेव ब्राह्मण था तो उसका नाम ब्रह्मदेव रख देता तो उसने नहीं उसकी स्त्री ने कही कि जो मैं तो अपने नाम पर नाम रखूंगी उसका नाम था धुंधली तो उसने अपने अपने नाम पर घर का नाम का वैसे पिता के नाम पर लगभग मिलता जुलता नाम होना चाहिए तो उसने उसका नाम ब्रह्मदेव था उसके पिता का तो उसने आत्मदेव था तो उसे कहते ला इसका नाम ब्रह्मदेव रख दे नहीं जो दस महीना पेट में मैंने रखा है और तुम्हारे नाम पर मैं नाम रखूंगी तो अपने नाम पर रखूंगी हाँ? तो उसने नाम रख लिया धुंधकारी और इसका नाम हुआ गोकर्ण और गोकर्ण जो थे वो तो बड़े तो धर्मात्मा थे बड़े शांत थे पंडित थे ज्ञानी थे और धुंधकारी महाकला बड़ा दुष्ट था कभी स्नान नहीं करता था जो मिल जाए वो खाए ले बड़ा क्रोधी <clears throat> चोर सबसे देश करने वाला दूसरे के घर में आग लगा दे किसी बच्चे को ले ले और उसको छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर डाल दे कुएं में डाल दे अंधों को ले जाए तो अंधा आ रहा लोग हम उनको रास्ता बताते हैं और ऐसी जगह जगह खड़ा कर दे जो गड्ढा होगा गिर जाए दीनानुधानाम प्रपीडकम चांडालों के साथ में रहता है बड़ा हिंसक वेश्याओं के संग से उसके पिता के धन को नष्ट कर दिया माता पिता को एकदम ताड़ित करके सारा धन वहां से ले गया तत्पिता का कृपणा परोचे धनहीन हो गरोगा एक दिन बड़े दुखी होकर के आत्मदिन से और तो वो बेचारे अब दुखी हो गए हा कष्टम मन संस्कृतम ने बड़ा दुखी जो कह रहे थे पहले थोड़ी देर पहले महात्मा के सामने गृहस्था सरसूल होके आते गृहस्थ में मारा अब रो गए तो अपने पिता को दुखी देख करके वहां गोकर्ण उनके पास आए और कहने लगे पिताजी असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा पिताजी संसार में सार नहीं है कुछ असार है तुम मात्र सारम निस्सारम कलरी सार सन्निभम जैसे केले के वृक्ष में कोई सार भाग नहीं होता पत्ते ही पत्ते होते एक छिलका काट दो फिर फिर भी छिलका फिर भी छिलका केले के वृक्ष में जैसे सार नहीं होता ऐसे संसार जो है मात्र ही तो सार है ये शरीरों का पतली पतली जो त्वचा चढ़ रही है वैसी में लोभकता है आकर्षण है इसके पीछे है क्या इसलिए ये कहते हैं सारा फल संसार हो दुख रूपी और विमोह का मोह में डालने वाला यहां किसका धन है किसका पुत्र है स्नेहवान ज्वलते निशंक जिसके हृदय में स्नेह है वो हमेशा दुखी रहता है और संस्कृत शास्त्र में स्नेह कहते हैं धृत को तेल को पर दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलता रहेगा और तेल समाप्त हो जाए तो जलना बंद हो ऐसे मनुष्य के हृदय में जब तक स्नेह रहेगा तब तक उसका हृदय जलता रहेगा किसी का लड़का अभी आया नहीं बाहर से हर समय पूछा रहा क्या बात हुई कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया क्यों नहीं आया क्या हुआ चिंता न पड़ रहा इसलिए वाम जलते निशम गोपाल जी कहते हैं पिताजी इंद्र को सुख नहीं है चक्रवर्ती को सुख नहीं है किसको सुखी है सुख है सुखमस्ति विरक्त से मुनेरेकांत जीविना जो मुनि एकांत में रहते हैं जो महात्मा विरक्त हैं एकांत में रहते हैं सुख तो वो जानते हैं क्या है सुख मस्त विरक्त से मुनेरेकांत जीविना मुंशा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति ही ये आप ये मोह ममता का त्याग करो इस मोह ममता में पड़ी रहने पर शरीर त्याग करोगे तो नरक में जाओगे निपत देवो हम सर्वम त्यक्वा हम ब्रजो ये शरीर तो अब काल के मुंह में जाने वाला है इसलिए वन में जाकर के भगवान का भजन करो आप बोले कि बेटा ये बता मैं वन में जाकर के करूं क्या माम उद्धर दराने थे मेरा मेरे लिए कोई उपदेश करो गोकर्ण में क्या करूं वहां जाकर के आप गोकर्ण पिता को उपदेश करते हैं लो पिताजी आप क्या करें हम बताते हैं देहे स्थिमान रुद्रे विमतिम त्यजत्व जाया सुता दुष्सदा ममता विमुंचो निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्यरा गिरा वरसिको भवभक्ति निष्ठा जी कहते हैं पिताजी पहले तो इस शरीर को मैं मानना छोड़ दो देहे स्थिमान सरुद्रे विमतिम त्यजत्व ये शरीर जो है हड्डी मांस चाम इसमें यही तो है हड्डियों के खंभे हैं मांस का पलस्तर है और चाम से उठा हुआ है और जाया सुतादिश सदा ममताम भी मुंचो स्त्री पुत्र आदि को मेरा मानना छोड़ दो न शरीर तुम हो न तुम्हारे ये शरीर के संबंधी तुम्हारे हो जब मैं ये शरीर नहीं तो ये मेरे ये कहा जाया सुखादिशु सदा मताम विमुंचो सब भगवान की माया है ऐसा भगवतो माया पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम और ये सारा जगत एक एक क्षण में नष्ट होने वाला है एक एक क्षण में बदल जाता है सारा विश्व क्षण भंग निष्ठम हमको पता नहीं चलता अच्छा एक एक क्षण में परिवर्तन न हो तो किस दिन नहीं परिवर्तन होता है पहले हम बच्चे थे फिर युवा हुए या बुद्धे हो गए तो क्या, क्या किसी महीने में किसी वर्ष में किसी एक तारीख में का परिवर्तन हुआ है ना एक एक क्षण में बदलता रहता है एक एक क्षण तो जगत जगदम क्षण भंग निष्ठम क्षण क्षण क्षण में बदलने वाला वैराग्य राग रस्थो भवभक्ति निष्ठा और वैराग के विषय के रस के रसिक मत बनो वैराग्य रस के रसिक बन जाओ वैराग्य भी एक रस है उसके आप रसिक बनो धर्मम भजस्व सततम नित्य धर्म का अनुष्ठान करो धर्म का आचरण करो और त्यज लोक धर्मान लोक धर्मों को लोक व्यवहार को कम कर दो सेवस्तु साधु पुरुषान संतों की सेवा करो संतों का संग करो और जय काम तृष्णाम विषयों की तृष्णा को छोड़ दो अन्य दोष अन्य से दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता और दूसरों के गुण दोषों को तो जल्दी छोड़ो ये जीवों का स्वभाव होता है हम दूसरों के गुण दोषों का चिंतन करते रहते हैं वर्णन करते रहते हैं तो अन्य से दोष गुण चिंतन मास इस बात को तो जल्दी छोड़ो शीघ्र ही परस्वभाव कर्माणी न प्रशंसे न है दूसरे के दोषों का गुणों का मत वर्णन करो न निंदा करो सेवा सेवाकथा रसमहो नितराम पिवत्व ये गोकर्ण ने अपने पिता को कहा पिताजी शरीर में से अहंता शरीर के संबंधी में अहंता त्याग करो संतों का से श्रम करो वैराग्य रूपी रस के रसिक होकर के मन में चले जाओ बस अपने पुत्र के इन वचनों को उपदेश मान करके और दृढ़ निश्चय करके वो ब्राह्मण आत्मदेवी थे वन में चले गए और नित्य प्रति दशम स्कंद का पाठ करते थे कृष्णम नवाप नियतम दशमस्य पाठात